कुटिल करि मोहे लोग कह गुरु साहिब द्रोहि सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बहु अनु ग्रहतो रे दु जल सुरति विसार जाचत जल पाहन डार चात कुरटनी घटे घट जाए बढ़े प्रेम सब भाति भलाई स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामीद्रोही भले ही कहे पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधी भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है कन कही बान पढा जिमिदाे प्रियतम पद ने बाहे भरत बचन सुने माझ सुनि मृदु बनी सुमंगल देनी तात भरत तुम्ह सब विधि साधु राम चरण यनो रागय गाधु बाधि गलायनी करहु मन माहे तुम सम राम कऊ प्रिय नाहे जैसे तपाने से सोने पर आब चमक आ जाती है वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो थे रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानी कर रहे हो कि रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है तनु पुल सुने बचन भरत धन्य कहि धन्य सुर सित बर सही फूल त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया हृदय में हर्ष छा गया भरत जी धन्य हैं धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे प्रमोदित तीरथ राजनिवासे दखानस बटु गृह उदासी कहीं परस्पर नीलस पाचा भरत सने हो साचा सुनत राम गुण ग्राम सुहाय धर मुनि, दर पहियाए दण्ड प्रणाम करत मुनि देखे मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और दस पाँच मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा धाये उठाए लाए वो रली है कृतारथ की है आसनु दिन नायु सिरु बैठे चहत सकुच गृह जनु भज पैठे मनि पूछब कछु जह बड़ सोचु बोले रे से लखी सील सकोच सुनहु भरत हम सब सुधि पाए विधि कर तब पर किछु न बसाए उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कितार्थ किया मुनि ने उन्हें आसन दिया वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले भरत सुनो हम सब खबर पा चुके हैं विधाता के कर्तव्य पर कुछ वर्ष नहीं चलता तुम गलाय जन करहू समुझ मातु कर तूति तात के कहीं दो नहीं गए गिरा मति धूति माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में गिलानी मत करो हे तात कई कई का कोई दोष नहीं है उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी